अनोशो टॉक धर्म साधना के सूत्र नंबर सेवन शायद हम जीवन के बरामदे में ही जी लेते हैं और जीवन का पवन अपरिचित ही रह जाता है बाहर ही जी लेते हैं मंदिर में प्रवेश ही नहीं हो पाता है मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य शायद यही है कि वो अपने से ही अपरिचित अनजान अजनबी जी लेता है शायद सबसे कठिन ज्ञान भी वही है सब कुछ जान लेना बहुत सरल है एक अपने को ही जान लेना बहुत कठिन पड़ जाता है होना तो चाहिए सबसे ज्यादा सरल अपने को जानना सबसे सुगम होना चाहिए लेकिन सबसे कठिन हो जाता है कारण है कुछ सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम ये मानकर ही चल पड़ते हैं कि जैसे हम स्वयं को जानते हैं और जैसे कोई बीमार समझ ले कि स्वस्थ है तो ऐसे ही हम अज्ञानी समझ लेते हैं कि ज्ञानी अपने को जानते ही है इस भ्रांति से जीवन में अज्ञान के टूटने की संभावना ही समाप्त हो जाती सिर्फ वही आदमी अपने को जानने को निकलेगा जो कम से कम इतना जानता हो कि मैं अपने को नहीं जानता हूं परमात्मा की खोज तो बहुत दूर जिन्होंने अपनी ही खोज नहीं की वे परमात्मा को कैसे खोज सके और अगर परमात्मा के द्वार पर भूले भटके पहुंच भी गए और उसने पूछा भेजा कि आप कौन हैं जो आए हैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे शायद दरवाजे से भागना ही पड़ेगा क्योंकि अपना भी जो परिचय न बता सके वो परमात्मा से परिचय पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है और हम सब अपने को बिना जाने परमात्मा को खोजने निकल पड़ते हैं इस खोज से न मालूम कितनी नासमझियां पैदा होती हैं जबकि जो अपने को खोजने जाए उसे परमात्मा को खोजने जाना ही नहीं पड़ता क्योंकि जैसे ही वो अपने को जानता है परमात्मा को भी जान लेता है बूंद को कोई जान ले तो सागर को जानने में कुछ भी शेष नहीं रह जाता एक छोटी सी बूंद में सागर का सारा प्राण समाया हुआ एक छोटी सी बूंद में सागर का सब कुछ समाया हुआ है एक बूंद जिसने जान ली उसने सागर को भी जान लिया और जो बूंद को बिना जाने सागर को खोजने निकला है उस पागल के लिए क्या कहा जा सकता है जो बूंद को भी नहीं जान सकता वो सागर को जानने की आकांक्षा करता हो तो वो आकांक्षा असफलता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं ला सकती परमात्मा को हम नहीं खोज पाते हैं क्योंकि हम अपने को ही नहीं खोज पाते हैं अपने को क्यों नहीं खोज पाते हैं अपने को खोजने की प्यास भी क्यों पैदा नहीं हो पाती कल मैंने कुछ बात शुरू की थी वो आपको फिर से कहूं वो जरूरी है आपसे कह देना अपने को खोजने की या परमात्मा को खोजने की प्यास भी पैदा नहीं हो पाती क्योंकि आदमी अनुभव से कुछ भी नहीं सीखता है साधारणतः हम समझते हैं कि अनुभव से हम सीखते भ्रांति है वो बच्चे जितने अज्ञानी होते हैं बूढ़े उनसे कम अज्ञानी नहीं मरते मां के पेट से पैदा हुआ बच्चा और कब्र में जाता हुआ बूढ़ा जो जानते हैं कहेंगे बराबर एक से ही अज्ञानी और नहीं लेकिन बूढ़ा बहुत सी बातें जानता है बच्चा बहुत सी बातें नहीं जानता उस जानकारी उस इन्फॉर्मेशन के बाबत नहीं कह रहा हूं बच्चा भी अपने को नहीं जानता बूढ़ा भी अपने को नहीं जानता और बाकी सब जान लेते हैं हम बस वो एक सूत्र अनजान रह जाता है इसलिए कहता हूं कि अनुभव से आदमी कुछ भी सीखता हुआ मालूम नहीं पड़ता कल मैं एक छोटी सी कहानी का कह रहा था एक आदमी के घर में एक चोर घुस गया उसकी पत्नी ने उस आदमी को कहा है मालूम होता है कोई चोर है तो उस आदमी ने उठकर उस कोठी में जाकर पूछा कौन है उस चोर ने कहा कोई भी नहीं नो बड़ी सर तो आदमी वापस आके सो गया जब कोई भी नहीं है तो व्यर्थ परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं रात चोरी हो गई सुबह उसकी पत्नी ने कहा ना समझ हो तुम रात मैंने कहा था चोर मालूम होता है तुमने लौट के कहा कोई भी नहीं है उस आदमी ने कहा कैसी बातें करती हूं मैं वहां गया मैंने पूछा भी अपने कानों से सुना भी कि कोई भी नहीं तभी मैं आकर सोया ऐसे घर में चोर दोबारा घुसे तो बहुत आश्चर्य तो नहीं पंद्रह बीस दिन बाद चोर वापस आ गया इस बार पुरानी भूल नहीं करनी थी लेकिन जब हम पुरानी भूल भी नहीं करते तो नए ढंग से सिर्फ पुरानी भूल ही करते सिर्फ ढंग बदल जाता है आदमी अनुभव से कुछ सीखता मालूम नहीं पड़ता है उसने जाके चोर को सीधा पकड़ लिया और कहा कि अब मैं पुरानी भूल न करूंगा कि तुमसे पूछूं कि कौन हो क्योंकि पिछली बार तुमने बड़ा धोखा दिया कि कहा कि कोई भी नहीं चोर को पकड़ के वो पुलिस थाने की तरफ ले चला आधे रास्ते पर चोर ने आके कहा माफ करना मेरे जूते तो मैं आपके घर ही भूल आया तो उस आदमी ने कहा कि जाओ जूते लेके आओ मैं यही रुका हुआ हूं अब मैं दोबारा इतना पीछे जाने की परेशानी नहीं उठाऊंगा वो आदमी गया स्वभाव का वो कभी नहीं लौटा मालिक घर आ गया और उसने कहा कि वो चोर धोखा दे गया फिर कुछ दिन बाद वो चोर उस घर में घुसा मालिक ने उसे पकड़ लिया और कहा कि ठीक से अपनी सब चीजें संभाल लो ऐसा ना हो कि बीच रास्ते पे कहो कि मुझे घर जाना है पिछली बार बहुत धोखा हो गया उस चोर ने कहा जहां तक ख्याल पड़ता है सब चीजें मेरे साथ हैं बेफिक्र चले आधे रास्ते को उसने कहा लेकिन माफ करिए बड़ी भूल हो गई कंबल तो मैं सच में ही आपके घर बुलाया उस आदमी ने कहा कि फिर वही बात अब तुम तो मुझे धोखा न दे सकोगे अब तुम यही रुको मैं तुम्हारा कंबल नहीं जा रहा यह आदमी हमें हंसने योग्य मालूम पड़ता है लेकिन यह आदमी हम सबके भीतर बैठा हम पूरी जिंदगी वही भूले नए नए ढंग से दोहराते वही भूले नई भूल भी कोई आदमी करे तो बड़ा कीमती आदमी है भूल भी हम पुरानी ही करते हैं सिर्फ नए ढंग हो जाते हैं कल भी आपने क्रोध किया था परसों भी क्रोध किया था उसके पहले भी किया था पिछले जन्म में भी किया था उसके पहले जन्म में भी किया होगा और हर बार कसम भी खाई है कि अब क्रोध ना करेंगे और आज भी आप करेंगे और कल भी आप करेंगे लेकिन कभी अपने पर हंसेंगे नहीं हर बार हर इच्छा के पीछे दौड़ के देखा है और हर बार जब भी कोई इच्छा पूरी हो गई है तभी पाया कि कुछ भी नहीं मिला लेकिन फिर आज आप इच्छा के पीछे दौड़ रहे कल भी आप दौड़ेंगे कल भी आप दौड़े आदमी हर बार वही भूल करता है सिर्फ ढंग बदल जाते हैं कल मकान चाह था आज कार चाहेंगे कल कुछ और चाहेंगे और हर बार जब चाह पूरी हुई तो पाया कि हाथ में कुछ भी नहीं आया है लेकिन आदमी भूल वही किए चला जाता है नाम बदल लेता है मैं भी एक गांव में गया तो डॉक्टर के घर ठहरा था बहुत मच्छर थे मैंने कहा तुम्हारे गांव में डीडीटी का प्रयोग नहीं होता तो उस डॉक्टर ने कहा होता है लेकिन मच्छर अनुभव से सीख गए इम्यून हो गए अब वो डीडीटी पड़ता है तो उनका असर ही नहीं होता तो मैंने कहा मालूम होता है तुम्हारे गांव के मच्छर तुम्हारे गांव के आदमियों से ज्यादा समझदार तो मैंने कहा तुम ऐसा करो डीडीटी का नाम बदल दो तो शायद मच्छर धोखे में आ जाए लेकिन उस आदमी ने उस डॉक्टर ने कहा कि मच्छर धोखे में नहीं आए क्योंकि मच्छर बेपढ़े लिखे पढ़े लिखे होते तो धोखे में भी आ सकते वो समझ ही ना पाएंगे कि नाम बदल गया आदमी नाम बदल लेता है चीजों और अपने को धोखा दिए चला जाता है रोज वही करता है सिर्फ नाम बदल देता है कभी धन खोजता है कभी यश खोजता है कभी पद खोजता है नाम बदल देता है हर हालत में अहंकार खोजता है पद में भी धन में भी यश में भी खोजता है अहंकार लेकिन नाम बदल देता है नाम बदल के खुद को धोखा दे देता है आज जो भूल करता है कल भी वही करता है नाम बदल देता है जिंदगी भर हम वही दोहराए चले जाते हैं यंत्र की भांति रिपीटिशन है हमारी जिंदगी एक पुनरुक्ति घूमते रहते हैं कोलू के बैल की तरह लेकिन एक बात कभी हमारे ख्याल में नहीं आती कि ये सारी जिंदगी इस तरह जी के हमें मिला क्या है ये सवाल कभी उठाते भी नहीं हो शायद डरते हो क्योंकि ये सवाल हमें मुश्किल में डाल सकता है इस सारी जिंदगी में दौड़कर हमें मिला क्या है हमने पाया क्या है हमारे हाथ में क्या है सारी संपत्ति पाकर कौन सी संपत्ति मिल गई और सारा यश पाकर कौन सा यश मिल गया है और बड़े से बड़े पद पाकर आदमी को मिल क्या गया ये सवाल जो आदमी उठा लेगा उसकी जिंदगी में धर्म ज्यादा दूर नहीं रहेगा वो बहुत करीब करीब धर्म के पास पहुंचने लगेगा लेकिन ये सवाल हमने उठाते एक मित्र ने पूछा कि क्या प्रभु की प्यास पैदा की जा सकती पैदा की जा सकती लेकिन जरूरी सवाल उठाने होंगे सबसे जरूरी सवाल यह है कि जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो जिंदगी है जिसे हमने आज तक जिया है वो जीने योग्य है अगर आपको दोबारा कोई मौका दे के हम फिर से आपको मौका देते हैं आप उसी जिंदगी को फिर से जी सकते हैं जिसको आप पचास साल जिए क्या आप उस जिंदगी को फिर से जीने को राजी होंगे मैं नहीं समझता कि एक भी आदमी राजी हो जाए उसी जिंदगी को जिसे आप जिए अगर दोबारा आपको मौका दे दिया जाए कि फिर ये कहानी वापस दौड़ती है कि आप पैदा होंगे वही सब करेंगे जो कि आप पचास साल सात साल तक चलेंगे सब वैसा ही दौड़ेगा तो क्या आप इसे दोहराने को राजी होंगे हाँ, आदमी दोबारा उसी फिल्म को देखने को राजी नहीं होता उसी जिंदगी को दोबारा दोहराने को कोई आदमी राजी नहीं हो सकता लेकिन अगर जिंदगी में पुस्तक तो दोहराने को हजार बार राजी हो जाना चाहिए लेकिन जिंदगी में कुछ है और ये सवाल हम नहीं उठाते और जब तक हम ये सवाल न उठाएं और जब तक हमारी जिंदगी हमें व्यर्थ न मालूम पड़ने लगे फ्यूटाइल न मालूम पड़ने लगे मीनिंगलेस न मालूम पड़ने लगे अर्थहीन न मालूम पड़ने लगे जब तक हमें हमारी जिंदगी राख की तरह मुट्ठी में दिखाई न पड़ने लगे तब तक हम परमात्मा की खोज पर नहीं जा सकते परमात्मा की खोज पर वे ही जाते हैं जिन्हें ये जीवन एकदम व्यर्थ दिखाई पड़ने लगता है तब वे नए जीवन की सार्थकता को खोजने को अग्रसर हो लेकिन हम अगर परमात्मा की बात भी करते हैं तो इसी जीवन के साथ श्रृंगार के लिए करते हैं किसी को मकान चाहिए तो परमात्मा से प्रार्थना करता है किसी को नौकरी चाहिए तो परमात्मा से प्रार्थना करता है किसी को बच्चा नहीं है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है कोई बीमार है तो परमात्मा से प्रार्थना करता है हम परमात्मा का भी उपयोग इसी जिंदगी की सजावट के लिए करना चाहते हैं इसलिए हमारी सब प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं इसलिए नहीं कि परमात्मा नहीं सुनता बल्कि इसलिए कि हमारी प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं ही नहीं है सिर्फ मांगे सिर्फ डिमांड सिर्फ इच्छाएं हैं सिर्फ आकांक्षाएं और उसी व्यर्थ जिंदगी के लिए सारी आकांक्षाएं जिस व्यर्थ जिंदगी को व्यर्थ समझ के ही कोई ऊपर उठ सकता है अगर आपके हाथ में कंकड़ पत्थर भरे हो और हीर जवाहरात खोजने हो तो आपको कंकड़ पत्थर से हाथ खाली कर लेने होंगे लेकिन आप कंकड़ पत्थर को जोर से पकड़ रहे हैं तो मैं कह सकूंगा कि आप हीरे न खोज पाएंगे क्योंकि जो आदमी अभी कंकड़ पत्थरों को हीरे की भांति पकड़े है वो हीरे पहचान भी नहीं पाएगा जो कंकड़ पत्थर में हीरे देख रहा है उसे हीरो में कंकड़ पत्थर दिखाई पड़े तो बहुत आश्चर्य नहीं जीवन जिसे हमने जिया है ये जिंदगी तो हमें याद है और भी बहुत बार हम जिए हैं इसी जिंदगी को वो हमें याद नहीं है लेकिन जो हमें याद है उसको भी देखें तो बड़ी हैरानी होगी हम क्यों जी रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कभी ये सवाल जोर से क्वेश्चन मार्क आपके सामने खड़ा हो गया कि आप क्यों जी रहे हैं इसी जिंदगी को आप क्यों खींच रहे हैं कल इससे कुछ नहीं मिला आज नहीं मिला कल क्या मिल जाएगा जिस दिन ये प्रश्न आपके सामने गहरा होकर खड़ा हो जाता है उसी दिन आपकी आंखें किसी और जिंदगी की खोज में भटकने लगती वही प्यास बननी शुरू हो जाती वही है प्यास प्यास पैदा की जा सकती है दूसरी तरफ से भी सोचें हम जिंदगी भर चाहते क्या चाहते हैं आनंद मिलता है कभी मिलता कभी भी नहीं चाहते हैं शांति मिलती है कभी मिलती कभी भी नहीं बल्कि जितनी शांति चाहते हैं उतनी अशांति सघन होती चली जाती है और जितना आनंद खोजते हैं जिंदगी में उतना तनाव उतनी चिंता बढ़ती चली जाती है पूरी जिंदगी दुख का एक ढेर हो जाता और उस दुख पर हम ढेर पर ढेर बढ़ाते चले जाते खोजते हैं आनंद मिलता है दुख जरूर हमारी खोज में कहीं कोई बुनियादी भूल और साधारण भूल नहीं असाधारण भूल होनी चाहिए क्योंकि जाते हैं आकाश की तरफ पहुंचाते हैं पाताल जाते हैं स्वर्ग की तरफ पहुंचाते हैं नर्क खोजते हैं आनंद मिल जाता है दुख जलाते हैं दिए जलता है अंधेरा ये तो पूरी की पूरी जिंदगी है बड़ी कंट्रेडिक्टी मालूम पड़ती है आदमी जो खोजता है वही नहीं मिलता सिकंदर हिंदुस्तान आ रहा रास्ते में एक वकील डायोजनीस उसकी कुछ बात हो गई डायोजनीस उस जमाने में यूनान का सबसे आनंदित आदमी था और कहना चाहिए सिकंदर उस जमाने में सबसे ज्यादा दुखी आदमी था होगा ही हम सब छोटे मोटे सिकंदर हैं सब यात्राओं पर निकले जीत विक्ट्री कोई धन जीतने कोई पद जीतने कोई दिल्ली जीतने यात्राओं पर है लोग सिकंदर बहुत दुखी ना हुआ क्योंकि पूरी दुनिया को जीतने निकला था असल में जो दुखी नहीं है वो किसी को जीतने ही नहीं निकलेगा जो आनंदित है वो जीत गया अब वो किसको जीतने जाएगा जो आनंदित है उसने अपने को जीत लिया अब किसी और को जीतने की कोई जरूरत न रही असल में जो अपने को नहीं जीत पाया जो अपने को नहीं जीत पाता वो इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरों को जीतने निकल पड़ता है जो अपने भीतर बहुत इंफीरियर कॉम्प्लेक्स बहुत हीनता से भरे होते हैं वे दूसरों को दबा के अपनी हीनता को पूरा करने निकल पाते हैं एक बड़े मजे की बात और बड़ी गहरी भी जो बहुत दीन होते हैं वो धन खोजने निकलते जो बहुत हीन होते हैं वो पद खोजने निकलते जो बहुत हारे हुए होते हैं वो जीतने निकलते जिनके पास कुछ नहीं होता वो सब मांगने निकल पड़ते स्वभाव का सिकंदर सबसे दुखी आदमी रहा होगा सारी दुनिया को जीतने निकला रास्ते में किसी ने सिकंदर से कहा कि डायोजनी से मिलते चले जाओ क्योंकि दयालुजनी जैसा आनंदित आदमी नहीं सिकंदर ने कहा आनंद तो मैं भी खोजता हूं तो मिल लेता हूं लेकिन सिकंदर ने कहा कि जाओ डायोजनीस को कहो कि मुझसे मिलने आए तो जो खबर लाए थे उन्होंने कहा डायोजनीस नहीं आएगा क्योंकि डायोजनीस को पाने के लिए कुछ नहीं बचा कि वो कहीं आए आपको तो जाना हो तो जा सकते हो सिकंदर गया डायोजनी रेत पर लेटा था सुबह की धूप निकली थी वो आनंद से लेटा हुआ था नग्न था सिकंदर उसके पास खड़ा हो गया और सिकंदर ने कहा कि इतने आनंदित मालूम पड़ते हो कैसे पाया ये आनंद तो डायोजनी ने कहा जब से बाहर खोजना बंद किया तब से ही सिकंदर ने कहा खोजना तो मैं भी चाहता हूं डार्जिलिंग में का खोज ना पाओगे क्योंकि जब भी खोजोगे बाहर खोजोगे दूसरे में खोजोगे कहीं और खोजोगे तो मेयर एल्स वहां कभी न देखोगे जहां है सिकंदर ने कहा अभी तो मैं दुनिया जीतने निकला तो डार्जिलिंग ने कहा दुनिया को जीत लो और समय बचे तो अपने को भी जीत लेना नहीं तो भिखारी ही मचाओ डायोजनीस से सिकंदर विदा लेने लगा तो उसने कहा कि तुम्हारी बातें बड़ी आकर्षित करती तुम्हारा आनंद देख के मन लालच से भरता है चाहता तो मैं भी ये हूं जब सारी दुनिया जीत लूंगा तो मैं भी विश्राम करूंगा तो डायोजनी ने कहा नाहक के उपक्रम में लगे हो मैं अभी विश्राम कर रहा हूं बिना दुनिया को जीते तुम भी आ जाओ इस नदी के तट पर बहुत जगह हम दोनों ही विश्राम कर सकते हैं इतना परेशान हो कि आखिर विश्राम ही करना है तो अभी ही विश्राम करो इतनी दौड़ क्यों लगाते हो सिकंदर ने कहा बात तो समझ में आती लेकिन अभी तो निकल पड़ा यात्रा पर बीच से कैसे लौट सकता हूं तो दार्जनिंग ने कहा एक बात याद रखना आज तक दुनिया में यात्रा पूरी करके कौन लौटा है सदा बीच से ही लौट जाना पड़ता है मौत लौटा लेगी तब तुम कैसे कहोगे कि बीच से मत लौटाओ और कहानी बड़ी अद्भुत है सिकंदर मरा तो लौट नहीं पाया अपने देश तक हिंदुस्तान से लौटते वक्त बीच में ही मर गया और भी मजेदार संयोग की बात है कि जिस दिन सिकंदर मरा उसी दिन डायोजनीस भी मरा और कहते हैं अब ये कहानी तो पीछे प्रचलित हो गई लेकिन मीठी है सच न भी हो तो भी सच है कि वैतरणी पार करते वक्त दोनों की मुलाकात फिर हो गई सिकंदर आगे था थोड़ी देर पहले मरा दार्जनीस पीछे थोड़ी देर बाद मरा दार्जनीस खिलखिला के हंसने लगा तो सिकंदर ने लौट कर देखा आज बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि डायोजनी उस दिन भी नंगा था आज भी नंगा था सिकंदर उस दिन सम्राट के वस्त्रों में था लेकिन आज नंगा था तो बड़ा सक्षाने लगा डायोजनी ने कहा कक्षाओं मत क्योंकि हम पहले ही जानते थे कि हर आदमी कपड़ों के भीतर नंगा अब जाने की बात नहीं और इसलिए हम पहले ही नंगे हो गए थे इसके पहले भी कोई और वस्त्र छीने हमने खुद ही देख दिए मौत को हमसे छीनने के लिए कुछ भी न बचा मौत खाली हाथ लौटी तुमसे बहुत छीन के लौटी इसलिए हम आनंद से भरे आ रहे और तुम रोते में चले आ रहे सिकंदर ने अपने मन को समझाने के लिए जोर से हंसा कोशिश की झूठी हंसने की और हंस के ये कहा कि खुशी हुई मिलके और कैसा आश्चर्य कि एक बार हम पहले भी मिले थे और आज बैतरणी पर फिर मिल गए और इस बैतरणी पर ऐसा कभी कभी होता होगा कि एक सम्राट और एक भिखारी की मुलाकात हो जाती है डायोजनी फिर हंसने लगा उसने कहा तुम बात बिल्कुल ठीक कहते हो लेकिन समझने में जरा भूल करते हो कि कौन सम्राट है और कौन भिखारी सम्राट पीछे भिखारी आगे क्योंकि तुम सब खो के लौट रहे हो मैं सब पा के लौट रहा जिस जीवन में ये सवाल न उठे कि जो मैंने पाया है वो पाया है या खोया है जिसे मैं उपलब्धि समझ रहा हूं वो उपलब्धि है या गंवाना है जिसे मैं सफलता समझ रहा हूं वो सफलता है या असफलता का नाम जिसे मैं जीत समझ रहा हूं वो जीत है या हार जिसे मैं ज्ञान समझ रहा हूं वो ज्ञान है या सिर्फ अज्ञान को ढांक लेना जिस जिंदगी में सवाल न उठे वो जिंदगी धार्मिक नहीं हो पाती और हम क्या करते हैं कि हम धर्म को भी इसी जिंदगी का हिस्सा बना लेते धर्म दूसरी जिंदगी है धर्म इस जिंदगी के ऊपर इस जिंदगी की व्यर्थता के ऊपर इस जिंदगी की रात के ऊपर खिला हुआ बिल्कुल ही दूसरा फूल लेकिन वो उन्हीं के लिए खिल सकता है जिनके लिए सच्चाई साफ हो जाए कि अभी तक हम रात बटोरने में बच्चों की तरह नदी के किनारे पर कंकड़ पत्थर बीनने में बिता दिए अनुभव से आदमी नहीं सीखता इसलिए मैंने कहा अनुभव तो हम सबको होते हैं व्यर्थता के रोज होते हैं लेकिन सीख नहीं पैदा हो पाती अनुभव सबके पास है ज्ञान नहीं हो पाता अनुभव से जो सीख लेता है उसके जीवन में ज्ञान शुरू हो जाता है जो सिर्फ अनुभव को दोहराए चला जाता है उसके जीवन में ज्ञान शुरू नहीं होता इसलिए ये सूत्र ख्याल रखने अनुभव ज्ञान नहीं अनुभव से सीख लेने का नाम ज्ञान experience itself is not knowledge अनुभव स्वयं ज्ञान नहीं but to learn from experience अनुभव से भी सीख लेना ज्ञान ज्ञान अनुभवों का निचोड़ जिससे इत्र होता है फूलों से निचोड़ा हुआ ऐसे समस्त अनुभव से जो निचोड़ लिया जाता है इससे वो ज्ञान है अनुभव सबके पास है ज्ञान बहुत कम लोगों के पास क्योंकि ज्ञान हम अनुभव से सीखते ही नहीं तो ज्ञान कैसे पैदा होगा थोड़ी दो चार घटनाएं आपसे कहूं तो ख्याल आ सके कि आदमी अनुभव से कैसे सीखता है सुबह मैंने एक सूफी फकीर हसन में गांव में प्रवेश हुआ आधी रात धर्मशालाएं बंद जगह जगह खोजा गरीब फकीर फटे हुए कपड़े कोई जगह नहीं एक अंधेरी गली से गुजरते वक्त एक चोर ने कहा कि सुनिए दो तीन बार आपको भटक देख चुका मालूम होता है ठहरने की कोई जगह नहीं मिलती मेरे घर आ जाए लेकिन आप फकीर हैं आपसे सच कह दो मैं एक चोर हूं जो अपने काम के लिए निकला हूं आपको घर छोड़ आता हूं मेरे घर रुक जाए हसन का मन एक बार दहशत से भरा चोर के घर में साधु ठहरे या नहीं अक्सर ऐसा होता है साधु चोर से भी कमजोर मालूम होते चोर नहीं डरता साधु को घर में ठहराने से साधु डर रहा है चोर के घर में ठहरने से को भी ख्याल आ गया कि ये तो बड़ी कमजोरी की बात डरना चाहिए चोर को कि साधु को घर में ठहराऊं डर रहा हूं मैं तो उसने कहा कि नहीं चलूंगा फिर वो चोर बड़ा ईमानदार मालूम पड़ा रास्ते में हसन ने सोचा ऐसा चोर तो कभी देखा नहीं जिसने कहा हो कि पहले बता दूं कि मैं चोर इतनी हिम्मत तो मेरी भी नहीं चोरी तो कई बार मैंने भी की हजार तरह की चोरियां थी कभी किसी से आंख बचा के निकल गए तो भी चोरी हो जाती चोरी में कोई एहसास नहीं चोर के घर पहुंच के हकन में पहले उसके पैर छुए तो उस चोर ने कहा कि ये क्या करता कहा कि मैं इसलिए पैर छूता हूं कि चोरियां तो मैंने भी की है लेकिन इतना साधु अभी नहीं हो पाया कि चोरी स्वीकार कर हसन अनुभव से सीखा फिर सो गया सुबह करीब चोर आया तो हसन ने पूछा कुछ मिला चोर ने कहा आज तो नहीं लेकिन बड़ा खुश था मैंने पूरी की लेकिन आज मिला नहीं कल फिर कोशिश करेंगे दूसरी रात भी यही हुआ कि चोर लौटा तो हसन ने पूछा कुछ लाए तो उसने कहा कि आज भी नहीं मिला मैंने पूरी की कल फिर कोशिश करेंगे एक महीने हसन उस चोर के घर था हर रात यही हुआ कि चोर खाली हाथ लौटा लेकिन हंसता लौटा और कहा कल फिर कोशिश करेंगे फिर मैंने बर्बाद हसन चला गया मरते वक्त हसन से किसी ने पूछा कि तुमने किन किन गुरुओं से ज्ञान लिया तो उसने कहा कि बहुतों से लिया लेकिन परमात्मा अगर एक चोर के घर में न ठहरता तो शायद न मिल पाता उन्होंने कहा मतलब तो उन्होंने कहा जब मैं परमात्मा को खोजता था आज खोजता था नहीं मिलता था तो रोने लगता था तब मुझे उस चोर की याद आती थी कि वो चोरी करने गया हंसता हुआ लौटा खाली हाथ और तो मैं तो परमात्मा की चोरी करने निकला हूं इतनी बड़ी चोरी और अगर एक दिन में पूरी नहीं हुई तो इतना रोना क्या तो मैं हंसने लगता था हर रोज यही होता था कि खाली हाथ लौट आता था परमात्मा से लेकिन वो चोर सामने खड़ा हो जाता उसकी तस्वीर वो कहता कल फिर कोशिश करेंगे आखिर एक दिन मैंने परमात्मा को पा लिया तो मैंने परमात्मा को पहले धन्यवाद नहीं दिया पहले धन्यवाद उस चोर को दिया अगर उसके घर न रुका होता आप चोर के घर रुकते तो इस अनुभव से कुछ सीख पाते मुश्किल था पहले तो रुकते ही नहीं तो रुकते भी तो शायद चोर हो जाते चोर भी न हो पाते तो भी चोर से कुछ सीख ना पाते वो अनुभव ज्ञान नहीं बन सकता लाउस ने लिखा है कि एक वृक्ष के नीचे से गुजरता था बहुत बार सुना था कि जो परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दे वही पा सकता है सब कोशिश की समर्पण नहीं हो सकता कोशिश से कहीं समर्पण हो सकता उल्टी बात वैसे ही जैसे कोई कोशिश से नींद लाने की कोशिश करे रात नींद ना आती हो और कोई कोशिश करे सो जाने की तो एक बात पक्की है कि जब तक कोशिश चलेगी तब तक नींद नहीं आएगी कोशिश और नींद उल्टी चीजें असल में नींद तभी आएगी जब आप थक जाएंगे और कोशिश भी बंद कर देंगे तभी नींद आएगी अनसा नहीं आता समर्पण कोशिश से नहीं आता कोई कितना ही परमात्मा के चरणों में सिर रखे कोशिश से नहीं आता जब कोशिश भी व्यक्त हो जाती और आदमी इतना असहाय हो जाता है कि वो कहता है कोशिश भी क्या करूं कैसे करूं कोशिश भी तो नहीं हो सकती तब समर्पण हो जाता तो लाओ से थक गया खोजते खोजते रुका है एक झाड़ के नीचे पतझड़ का मौसम है पत्ते ऊपर से गिर रहे हैं सूखे हवाओं में उड़ रहे और लाओ से भी उठा और पत्तों के साथ दौड़ने लगा हवा पूरब की तरफ जा रही थी तो पूरब की तरफ दौड़ा हवा पश्चिम की तरफ जा रही थी तो पश्चिम की तरफ दौड़ा उसके शिष्यों ने कहा आप पागल तो नहीं हो गए उसने कहा अब तक मैं पागल था अब मैं एक सूखे पत्ते की तरह हो गया एक सूखे पत्ते को मैंने दृष्ट से गिरते देखा उसकी गिरने की कहीं भी कोई आकांक्षा न थी हवा पूरब ले जाती तो वो पूरब चला जाता हवा पश्चिम ले जाती तो वो पश्चिम चला जाता हवा ऊपर उठा देती तो वो ऊपर उठ जाता हवा नीचे गिरा देती तो वो नीचे गिर जाता तब मैंने कहा एक सूखा पत्ता भी समर्पण कर सकता है और मैं समर्पण नहीं कर पा रहा मेरी कोशिश ही बाधा बन गई मैंने कोशिश छोड़ दी समर्पण उपलब्ध हो गया लाओसे से जब भी कोई पूछता तो वो कहता कि जाओ पतझड़ में वृक्षों के नीचे बैठ जाओ सूखे पत्तों से सीखो लोग जाते लेकिन सूखे पत्तों से बिना कुछ सीखे वापस लौटाते वो कहते सूखे पत्तों में क्या रखा हुआ लाओस से का अनुभव ज्ञान बन गया मुझे दूसरे लोग गए सिर्फ सूखे पत्तों को गिरता देख के वापस लौट है मैंने सुना है कि बंगाल में एक साधु हुआ है राजा बाबू उसका नाम वो बंगाल की हाईकोर्ट का जज वो रिटायर हो गया है अपने घर से सुबह निकला छड़ी लेके घूमने कोई पैंसठ साल की उम्र हो कोई स्त्री अपने घर के भीतर द्वार दरवाजे बंद अपने बेटे को या अपने देवर को या किसी को उठाती होगी और भीतर कहती होगी राजा बाबू उठो सुबह हो गई बहुत देर हुई जा रही है कब तक सोए रहोगे सारा जगत जाग गया वो अपने किसी को भीतर रही उसे पता भी नहीं कि बाहर एक और राजा बाबू अपनी छड़ी लेकर घूमने निकले वो छड़ी वहीं रुक गई तो राजा बाबू वहीं ठहर गए वे सब तो ही सुनाई पड़े कि बोर हो गई सुबह हो गई कब तक सोए रहोगे जागने का समय आ गया वो वहीं से वापस घर लौटा घर आके उन्होंने दरवाजे पर जोर से कहा कि राजा बाबू अब जागते हैं सुबह हो गई सूरज निकल आया अब राजा बाबू ज्यादा न सो उनके घर के लोगों ने कहा पागल तो नहीं हो गए तो उन्होंने कहा अब तक पागल था पर लोगों ने कहा ये तुम्हें हो क्या गया उनका एक घर के द्वार से निकलता भीतर से आवाज सुनाई पड़ी वो छोटा सा अनुभव ज्ञान बन गया आप भी निकल सकते हैं उस घर के सामने आवाज आपको भी सुनाई पड़ सकती है यही लेकिन ज्ञान नहीं बन जाएगी अनुभव से जब हम सीखते हैं तब छोटा सा अनुभव बड़े से बड़ा ज्ञान बन जाता है और जब हम अनुभव से नहीं सीखते तो बड़े से बड़ा अनुभव छोटा से छोटा ज्ञान भी नहीं बन पाता है जिंदगी बड़ा अनुभव अगर ठीक से समझें तो जिंदगी परमात्मा के ज्ञान के लिए दोहराया गया अनुभव लेकिन हम पूरी जिंदगी से ऐसे गुजर जाते हैं जिसका कोई इंसान नहीं चिकने घड़े की तरह जिस पर पानी गिरता रहता है और एक बूंद भी पानी घड़े में समा नहीं पाता गुजर जाते हैं जिंदगी से रिक्त खाली धार्मिक प्यास जगती है एक एक अनुभव को सजग रूप से अनुभव करने से एक एक अनुभव को जाग कर देखने से एक एक अनुभव के निरीक्षण ऑब्जर्वेशन एक एक अनुभव में आंखें गला के देखने से रोज अनुभव है इन्हीं सब अनुभवों से दुनिया के भी सारे लोग गुजरे हैं जो परमात्मा को पाए इन्हीं से हम गुजर रहे हैं अनुभवों में कोई फर्क नहीं नानक के अनुभव में आपके अनुभव में कोई फर्क नहीं बुद्ध के अनुभव में आपके अनुभव में कोई फर्क नहीं जीसस के अनुभव में आपके अनुभव में कोई फर्क नहीं फर्क अनुभव में नहीं है फर्क अनुभव से सीखने में शुरू होता है इन्हीं अनुभवों से लोग परमात्मा को उपलब्ध हो गए इन्हीं अनुभवों से हम सिर्फ मरघट को उपलब्ध होते हैं आप कहीं भी नहीं जाते यही अनुभव है जिंदगी यही है यही रुदन है यही आंसू है यही मुस्कुराहटे हैं यही कांटे हैं यही फूल है यही झगड़े हैं यही प्रेम है यही धन यही वैभव यही आकांक्षाएं यही सब सबके लिए इसी में कोई अचानक बुद्ध निकले हैं अपने घर से युवा रथ पर सवार एक महोत्सव हो रहा है गांव में और एक बूढ़े आदमी को पहली दफा देखा तो अपने साथी से पूछा है ये आदमी इस आदमी को क्या हो गया उस साथी ने कहा मत पूछे आप क्योंकि आपके पिता की आज्ञा नहीं है कि बूढ़ा आपको दिखाई पड़े ये बूढ़ा कैसे आ गया रास्ते पर यही हैरानी क्योंकि बुद्ध जहां से निकलते उनके पिता वृद्ध लोगों को रास्तों से अलग करवा देते बुद्ध के बगीचे में फूल को कुंभाने न देते कुमलाने के पहले रात में फूल अलग कर दिए जाते बुद्ध को पता ही ना चले कि जिंदगी में बुढ़ापा भी ये बूढ़ा कैसे आ गया उस साथी ने कहा लेकिन अब आप पूछते हैं तो इंकार भी नहीं कर सकता ये आदमी बूढ़ा हो गया बुद्ध ने कहा क्या मतलब क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊं आपने ना पूछा होता ये सवाल हम रोज बूढ़े देखते हैं लेकिन हमने कभी ये नहीं पूछा कि क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा हम सोचते हैं ये बेचारा बूढ़ा हो गया तब अनुभव अनुभव रह गया ज्ञान नहीं बना बुद्ध ने तत्काल ये पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा ये ज्ञान बनाने की कीमिया का सूत्र है अनुभव को तत्काल ज्ञान बनाना शुरू हो गया उस साथी ने कहा मैं कैसे कहूं लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकता इस जमीन पर जो भी आया है वो पूरा होगा तो बुद्ध ने कहा फिर वो बूढ़ा हो ही गया इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितनी देर लगेगी रथ वापस लौटा लो युवक महोत्सव में यूथ फेस्टिवल में जा रहे तो बुद्ध ने कहा अब यूथ फेस्टिवल में जाने की कोई जरूरत नहीं अब बूढ़ा हो गया तो जवानों के उत्सव में मेरा क्या प्रयोजन वापिस लौटा लो साथी ने कहा कैसी आप बात करते अभी कैसे बूढ़े हो गए अभी तो युवा है लेकिन बुद्ध ने कहा कि जब बूढ़ा होना ही पड़ेगा तो वर्ष दो वर्ष दस वर्ष बीस वर्ष क्या फर्क पड़ता है बात हो गई अब मैं युवा नहीं रहा वापस लौटा आ और लौटते मेरे रास्ते पर एक अर्थी मिली और बुद्ध ने पूछा ये क्या हुआ तो साथियों ने कहा आप मत पूछे ऐसे सवाल मुझे मुश्किल में मत डाले क्योंकि मैं आपके पिता को क्या जवाब दूंगा यह आदमी मर गया तो बुद्ध ने पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा तो उस साथी की तकलीफ तुम समझ सकते हैं उसने कहा कि आप ऐसे बेकार सवाल मत पूछे कोई पूछता सच तो यह है कि यही सार्थक सवाल एक दूसरे आदमी की मौत का अनुभव भी बुद्ध ने ज्ञान में बदल दिया सार्थी ने कहा मरना तो पड़ेगा कि जो भी जन्मता है वो मरता है असल में जन्मता है जिस दिन उसी दिन मरना शुरू हो जाता है ऐसा नहीं कि मरना कोई सत्तर साल बाद आता है वो दिखाई पड़ता है सत्तर साल बाद जन्म के क्षण से ही मरना शुरू हो जाता है जिसको हम जिंदगी कहते हैं वो ग्रेजुअल डेथ धीमे धीमे मरने की लंबी प्रक्रिया एक क्षण बच्चा पैदा हुआ कि मरने के लिए पूरा कैपेबल मरने के लिए पूरा समर्थ हो गया अब मरने में उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है अभी मर सकता है तो बुद्ध ने कहा फिर बात ही खत्म हो गई बात ही समाप्त हो गई जब मरना ही पड़ेगा तो मर ही गए अब इस जिंदगी में कोई अर्थ ना रहा अब मैं उस जिंदगी की खोज पर निकलूंगा जो नहीं मरती मैं उस जिंदगी की खोज पर अब निकलूंगी निकलूंगा जो अमृत लेकिन मृत्यु को जिसने कभी सवाल नहीं बनाया वो अमृत की खोज पर कैसे निकलेगा आप न मालूम कितने लोगों को मरने तो पहुंचा है लेकिन कभी ये ख्याल मन में गहरे नहीं बैठता कि अब जल्दी ही लोग मुझे पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं मरगत सदा दूसरे के लिए मालूम होता है मीट फॉर द अदर कभी अपने लिए नहीं मौत सदा किसी और की होती है कभी अपनी नहीं फिर अनुभव ज्ञान नहीं बन पाता और अनुभव ज्ञान न बन पाए तो जीवन धर्म नहीं बन पाता अनुभव ज्ञान बने तो जीवन धर्म बन जाता है प्यास जब सकती एक एक अनुभव को चारों तरफ से जांचना परखना होगा एक एक अनुभव को पूरा का पूरा ज्ञान में रूपांतरित कर लेना होगा और फिर जिंदगी पूरी प्यास बन जाएगी और फिर तब तक हम चैन से न बैठ सकेंगे जब तक परमात्मा का द्वार ही न खुल जाए तब तक हम उसके दरवाजे को ठोकते ही रहेंगे और एक बार प्यास जग जाए तो परमात्मा को पाने के लिए दूसरी और कोई भी चीज अनिवार्य नहीं है बाकी सब चीजें गैर अनिवार्य है अनिवार्य सिर्फ प्यास प्यास छोटी बात नहीं प्यास से बड़ी कोई बात ही नहीं प्यास जग सकती है और जब जाए तो रोआ रोआ तड़फने लगता है फिर ऐसा नहीं होता कि परमात्मा जिंदगी के बहुत कामों में एक काम हो नहीं परमात्मा ही एक काम रह जाता है जिंदगी के सब कामों में वही रह जाता है असली फिर जिंदगी के सब काम माला के गुरियों की तरह हो जाते हैं और परमात्मा उसमें दौड़ता हुआ धागे की तरह हो जाता है सब काम चलेगा लेकिन खोज और प्यास परमात्मा की चलेगी भोजन कर रहे होंगे लेकिन परमात्मा की भूख लगी रह जाएगी पेट भर जाएगा और परमात्मा की भूख खाली रह जाएगी पानी पी रहे होंगे तो गला शीतल हो जाएगा शरीर की प्यास हो जाएगी और परमात्मा की प्यास पीछे जलती रहेगी बेटे से बात कर रहे होंगे बात बेटे से चलेगी लेकिन भीतर कहीं बात परमात्मा से चलती रहेगी दुकान पर बैठे होंगे ग्राहक को देख रहे होंगे आंख जो देखती है ग्राहक को देखती रहेंगी और भी गहरी आंखें जो परमात्मा को खोजती रहेंगी कबीर जाते थे बेचने कपड़ा बाजार में तो लोग उनसे कहते हैं कि अब आप इतने ज्ञान को उपलब्ध हो गए कि अब कपड़ा बुनना बंद करो अब ये शोभा नहीं देता है तो कबीर कहते अज्ञानी सिर्फ कपड़ा ही बुनते हैं मैं इसमें कुछ और भी बुनता हूं जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता मैं इसमें राम भी बुन देता हूं मेरी श्वास श्वास में वही है मेरे हाथ में वही मेरी धड़कन धड़कन में वही ये साधारण कपड़ा नहीं है इसमें मैंने राम के ताने बाने भी बुन दिए और जब कबीर बेचने जाते तो ग्राहक जब खरीदता तो उससे वो कहते हैं राम और ग्राहक से कहते राम तुम्हारे लिए ही बना के लाया हूं जिंदगी चलेगी ऐसी ही चलेगी लेकिन बिल्कुल बदल जाएगी भीतर का धागा परमात्मा का हो जाए एक प्यास लेकिन वो प्यास हमारे भीतर नहीं और बिना प्यास के जो परमात्मा को खोजेगा समझ सकते हैं कि उसकी खोज ऑथेंटिक प्रमाणित नहीं हो सकती मैंने सुना है कि लंका में एक फकीर था उसने तीस वर्ष तक हजारों लोगों को समझाया मोक्ष निर्वाण परमात्मा मरने का दिन करीब आया तो उस फकीर ने उन लोगों से पूछा कि अब मैं कल मरने वाला हूं और इतने दिन मैंने तीस वर्षों तक तुम्हें समझाया मोक्ष निर्वाण परमात्मा अब कौन मेरे साथ चलने को तैयार है वो खड़ा हो जाए मरने की खबर सुनकर उसके सब प्रेम करने वाले लाखों लोग इकट्ठे हो गए एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ बल्कि लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे जो जिसको मोक्ष पहुंचाना चाहता होगा उसकी तरफ देखने लगे कि फला आदमी चला जाए लेकिन उस फकीर ने कहा मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये सवाल दूसरे का नहीं दूसरे की तरफ मरते हो कौन चलना चाहता है एक आदमी डरता था खड़ा हुआ उसने कहा लेकिन पहले मैं निवेदन कर दू अभी कल नहीं चलना चाहता हूं मैं सिर्फ ये पूछने खड़ा हुआ हूं कि तरकीब बता दें कभी जाना होगा तो उपयोग कर लेंगे लेकिन कल नहीं चलना हम कहते जरूर हैं कि परमात्मा को चाहते हैं लेकिन अगर सच में ही कहा जाए कि चाहते हैं तैयारी है चलते हैं तो आप कहेंगे इतनी जल्दी नहीं थोड़ा ठहरे अभी बहुत काम पड़े हैं वो सब निपटा दें इन ऑथेंटिक अप्रमाणिक त्याग का कोई भी मतलब नहीं है इसीलिए तो पृथ्वी पर इतने मंदिर इतने गिरजे इतने गुरुद्वारे इतनी मस्जिद इतने धार्मिक लोग और फिर भी पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाती पूरी पृथ्वी धार्मिक हो जानी चाहिए श्वास श्वास कण कण हवा का धर्म से भर जाना चाहिए कितनी अजाने कितनी प्रार्थनाएं कितने घंटों के स्वर लेकिन कहीं कुछ नहीं होता असल में जब लोगों के दिल में प्यार की ना हो तो ये सब चीजें फार्मल औपचारिक हो जाती हैं उनमें कोई अर्थ नहीं रह जाता पुजारी चढ़ा देता है भगवान के मंदिर में फूल बिना अपने हृदय को चढ़ाए पुजारी जला देता है बत्तियां ऊप बत्तियां सुगंध फैला देता है लेकिन बिना प्राणों के संगीत के रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी की तरह रखा गया गरीब ब्राह्मण थे तो पुजारी की जगह रखती थी ज्यादा ना थी शायद सोलह रुपया तनखा लेकिन दो चार दस दिन में ही कमेटी ट्रस्टियों की बड़ी मुश्किल में पड़ गई क्योंकि ट्रस्टियों की कमेटी जिन पुजारियों की आदि थी ये वैसा पुजारी न था कमेटी तो हजार पुजारियों को निपटा चुकी थी उस मंदिर से पुराना मंदिर था न मालूम कितने पुजारी आए और गए लेकिन कभी किसी पुजारी से दिक्कत न हुई थी इस पुजारी से दिक्कत होने लगी बड़ी मजे की बात कमेटी ने रामकृष्ण को बुलाया और कहा कि ऐसा नहीं चलेगा सात दिन बाद ही नौकरी से अलग कर दिए जाओगे ये कोई पूजा का ढंग है क्योंकि हमने सुना है कि तुम फूल पहले सूंघते हो और फिर चढ़ाते हो और हमने सुना है कि पहले तुम वोट खुद अपने को लगा लेते हो फिर भगवान को लगाते हो हद हो गई नास्तिक हो रामकृष्ण ने कहा कि संभालो अपनी नौकरी लेकिन मेरी माँ जब मुझे भोजन देती थी तो पहले चखने थी मैं बिना चखे नहीं चला सकता पता नहीं खाने योग है भी कि नहीं और फूल जो मैंने नहीं सूंघा पता नहीं उनके चरणों में रखने योग है भी या नहीं मैं बिना सूंघे नहीं रख सकता ठीक पुजारी हो तो ट्रस्टियों की कमेटी मुश्किल में पड़ गई गलत पुजारी चलते रहे तो ट्रस्टियों की कमेटी मुश्किल में पड़ गई निकालने को तत्पर होगा कि बंद करो इस आदमी को ये ठीक नहीं ये जमीन इस पर दिखाई पड़ने वाला तथाकथित धर्म सोकाल रिलीजन उसके नाम कुछ भी हो और हम सारे लोग जो अपने को धार्मिक समझते हम धर्म को भी एक औपचारिकता एक शिष्टाचार एक सामाजिक व्यवहार एक सोशल यूटिलिटी एक सामाजिक उपयोगिता बनाए हुए नहीं धर्म सामाजिक उपयोगिता नहीं है धर्म तो प्राणों की बड़ी गहरी अकुलाहट है समाज का उससे कोई संबंध नहीं वो एक एक व्यक्ति की निजी प्राणों की तड़पन और उस तड़पन को हम झूठी बातों से हल न कर पाएंगे उस तड़पन को हम झूठी आग से न जला पाएंगे उस तड़पन के लिए सच्ची आग चाहिए वो सच्ची आग प्यास से पैदा होगी और प्यास जीवन के अनुभव को ज्ञान बनाने से पैदा होगी एक और तरफ से सोचने की कोशिश करें क्योंकि ये बात अगर ठीक से समझ में आ जाए और मैं नहीं जानता कि आपकी जिंदगी में प्यास कहां से आए इसलिए कई तरफ से सोच लेना जरूरी किसी की जिंदगी में प्यास दुख से आ सकती है अगर वो दुख को समझ ले किसी की जिंदगी में प्यास अज्ञान से आ सकती है अगर वो अज्ञान को समझ ले किसी की जिंदगी में प्यास मृत्यु से आ सकती है अगर वो मृत्यु को समझ ले किसी की जिंदगी में प्यास रोजमर्रा की जिंदगी को देखने से आ सकती है अगर वो उसकी व्यर्थता को समझ ले कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसकी जिंदगी में प्यार कहां से आएगी इसलिए दो चार कोणों से समझ लेना जरूरी है सुना है मैंने एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ चौंतर से रात सोया तो उसने एक स्वप्न देखा सुबह उठा तो बहुत बेचैन था और सारे गांव के लोगों को बुला लिया कि रात बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं सपना देखा गांव के लोगों ने कहा पागल हो सपने हम रोज देखते हैं सपनों से मुसीबत में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं लेकिन चांद दस कारण नहीं मामला ही ऐसा है कि मुश्किल में पड़ ही गया जरूरत हो या ना हो मुसीबत आ गई है तुम कुछ सहायता कर सकते हो तो करो रात मैंने एक सपना देखा है कि मैं तितली हो गया हूं और फूलों तो उड़ रहा हूं तो उन्होंने कहा कोई खास बात नहीं हम सब देख चुके ऐसे सपने कभी हम पक्षी हो जाते हैं आकाश में उड़ जाते हैं लेकिन जान सकते ने तो पूरी बात तो सुनो सपने से दिक्कत नहीं आई अब सुबह उठ के मुझे ये सवाल उठ रहा है कि अगर रात आदमी सो के सपना देख सकता है ये तितली हो गया तो तितली भी तो दिन में सो के सपना देख सकती है कि आदमी हो गई अब मैं इस दिक्कत में हूं कि चौंग दसे में सपना देखा कि तितली बन गया कि तितली सपना देख रही कि चौंग दसे बन गई अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ रहा हूं तो कुछ रास्ता बताओ नहीं तो मैं गया गांव के लोगों ने कहा तो बड़ी मुश्किल बात लेकिन हमने कभी तो इस तरह सोचा नहीं सपने सपने देखे लेकिन सपने तक पर तो हमने नहीं सोचा उस अनुभव को भी कभी ज्ञान नहीं बढ़ाया कितने मजे की बात है कि रात के सपने को सुबह उठ के आप झूठ कह देते हैं कि गलत था क्यों क्योंकि जिंदगी और तरह की दिखाई पड़ती है उसमें सपना गलत हो जाता है लेकिन कभी इससे उल्टा आपने सोचा कि रात जब आप सपने में जाते हैं तो जिससे आपने दिन भर सच कहा था वो इसी तरह झूठ हो जाता है कभी आपने ख्याल किया कि जिसको आप जिंदगी कहते हैं यथार्थ कहते हैं वो सपने में उसी तरह झूठ हो जाती है जिस तरह सपना जिंदगी में झूठ हो जाता है दोनों झूठों में कौन सा सच है इसे कभी सोचा और भी एक मजे की बात बहुत मजे की बात कि रात का सपना तो दिन में थोड़ा बहुत याद भी रह जाता है दिन का सपना रात के सपने में बिल्कुल याद नहीं रात अगर आप सम्राट हो गए थे सपने में तो सुबह भी थोड़ी बहुत धुन उसकी बाकी रह जाती रात सम्राट हो गया लेकिन दिन भर जो सम्राट रहा है जिंदगी भर जो सम्राट रहा है उसको भी रात के सपने में धुन नहीं रह जाती कि मैं दिन में सम्राट अगर समझेंगे तो शायद पता चले कि जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो सपने से भी ज्यादा सपना है कभी आपने सोचा कि सपने में कभी भी याद नहीं आता कि जो मैं देख रहा हूं वो सपना है और अगर याद आ जाए तो समझना सपना टूट गया आप सो नहीं रहे अब आप जाग गए सपने में पता ही नहीं चलता कि जो मैं देख रहा हूं वो सपना है कितनी बार आपने सपना देखा है हजार बार लाख बार करोड़ बार रोज सुबह जग के पाया है कि सपना झूठा होता है लेकिन फिर आज रात जब आप सपना देखेंगे तब वो फिर सच मालूम होगा सपने में सच मालूम होगा जिंदगी में हजार दफे देखे सपनों के अनुभव का कोई परिणाम नहीं हुआ सपना फिर आज रात सच हो जाता है और जब सपने में सपना सच मालूम होता है और झूठ नहीं मालूम होता है तो जिस जिंदगी को आप जिंदगी में सच मान रहे हैं उसे सच मानने का कोई कारण है फिर हो सकता है उससे भी जाग के पता चले कि वो भी झूठ है जिन्होंने जिंदगी को माया या इल्यूजन कहा है उनका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है उनका कुल मतलब इतना है कि जब इससे भी कोई जाग कर देखता है तो वह हैरान हो जाता है वो कहता है वो भी झूठ है वो उसी तरह का एक सपना थी बट प्रोलॉन्ग ड्रीम बड़ा लंबा सपना एक कंट्यूनिटी थी एक सातत्य था उस सपने में अगर आदमी सपने को समझ ले तो जिंदगी सपना हो जाती लेकिन नहीं उसे भी हम नहीं देख पाते वो चौन दसे ने ठीक कहा कि मैं मुश्किल में पड़ गया हूं मैं आपसे कहता हूं आप कब मुश्किल में पड़े कि आपको सपना तकलीफ देने लगे मैंने और सुनी है कहानी मैंने सुना है एक सम्राट का बेटा मरण से पर पड़ा है बिल्कुल मरने के करीब अभी गया अभी गया चार रात हो गई है और चिकित्सक कहते हैं कभी भी जा सकता है तो बाप जग रहा है इकलौता बेटा है चार रात से जग रहा है चौथी रात चार बजे के करीब ठंडी हवाएं सुबह की आई हैं वो अपनी कुर्सी पर सो गया बाप की झपकी लग गई झपकी लगी तो उसने सपना देखा कि उसके बाहर लड़के हैं बहुत सुंदर बहुत शक्तिशाली सारी पृथ्वी को उसका राज्य बड़े आनंद में हो गया बड़े दुख में था अभी सपने के बाहर एक बेटा मर रहा अब बड़े आनंद में हो गया न उस बेटे से मतलब रहा न उस सवाल रहा सपने में बड़ा प्रसन्न अगर उसका कोई चेहरा भी देखे तो उसकी मुस्कुराहट और उसका आनंद बाहर से भी दिखाई पड़ सकता बड़ा है तभी उसका बेटा मर गया बाहर वाला बेटा भीतर के बेटे तो सब ठीक है वो बाहर बेटे ठीक चल रहे बाहर वाला बेटा मर गया पत्नी चीख मार के चिल्लाई तो नींद टूटी नींद क्या टूटी बारह बेटे भीतर वाले मर गए सपना खत्म हो गया लेकिन वो राजा रोने की बजाय हंसने लगा उसकी पत्नी ने समझा कि कहीं पागल तो नहीं हो गए कभी दुख में आदमी हो जाता कभी सुख में आदमी हो जाता कोई भी चीज तीव्र हो जाए तो पागल हो जाता पत्नी घबराई हिलाया कि हंसते क्यों है देखते नहीं बेटा मर गया फिर भी वो हंसता रहा उसकी पत्नी ने कहा बात क्या है उसने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया वही मुश्किल जो चौहत्तर से को पड़ गई क्या मुश्किल क्योंकि अब मैं फिक्र में पड़ा हूं कि किन के लिए पहले रो अभी जो बाहर भीतर थे उनके लिए पहले रो अभी जो एक बाहर था उसके लिए पहले रो और जब मैं भीतर के लड़कों को देखता था तब इस लड़के का मुझे पता ही नहीं था कि है या नहीं मरा कि जिंदा कोई मतलब ही ना था अगर मैं सपना ही देखता रहता और ये लड़का मर जाता तो मुझे कभी पता भी नहीं चल सकता था कि लड़का मर गया और जब भीतर के लड़कों को देखते वक्त बाहर का लड़का झूठ हो गया तब तो बाहर के लड़के को देख के भीतर के लड़के झूठ हो गए कौन सच है मैं ये जानना चाहता हूं मैं किसके लिए रहूं तो वो सम्राट गांव गांव घूमने लगा पूछते हुए कि मैं किसके लिए रहूं वो साधुओं के पास सन्यासियों के पास जाता उनकी गर्दन पकड़ लेता और कहता मैं किसके लिए रहूं वो जो बाहर का लड़का मर गया उसके लिए जो भीतर का लड़का मर गया तो लोगों ने उस सम्राट से कहा कि इसका उत्तर सिर्फ चौंग से दे सकता है तुम उसी के पास चले जाओ वो जिसने तितली का सपना देखा तुम उसी झंझट में पड़ गए तो सुना है मैंने कि वो सम्राट चौंतसे के पास गया और चौंतसे से कहा कि मैं किसके लिए रोऊं चौंतसे ने कहा अपने लिए रो और किसी के लिए रोने की कोई और जो आदमी अपने लिए रोना शुरू कर दे उस आदमी की जिंदगी में धर्म का आगमन हो जाता या जो आदमी अपने ऊपर हंसना शुरू कर दे उसकी जिंदगी में भी धर्म का आगमन हो जाता लेकिन हम दूसरों पर हंसते हैं दूसरों पर रोते हैं अपने को सदा बचा जाता एक आध दरवाजे से और देखने की कोशिश करेंगे ये प्यास कैसे पैदा हो सकती है ये प्यास कैसे पैदा हो सकती है शायद ये कहना ठीक नहीं है कि प्यास कैसे पैदा हो सकती है प्यास तो शायद कहीं है सिर्फ उकसाने की ही बात प्यास तो कहीं है उकसाने की बात शायद प्यास का हमें कभी कभी बिना उकसाए भी पता चलता है लेकिन हम उसे दबा देते हैं कहने को हमारी संस्कृति सारी दुनिया की धार्मिक है लेकिन धार्मिक प्यास को हम सब दबाते हैं अगर एक बाप का बेटा चोर हो जाए तो इतना परेशान नहीं होता जितना बेटा सन्यासी हो जाए तो परेशान होता कहते हैं हम धार्मिक संस्कृति एक पति शराब पीने लगे तो पत्नी इतनी चिंतित नहीं होती जितना पति प्रार्थना में डूब जाए तो चिंतित हो जाए कहते हैं हम कि धार्मिक संस्कृति कहने की बातें धर्म बड़ा डराता है और डराता इसलिए कि धर्म आदमी को बिल्कुल बदल देता है हमारे आसपास का कोई भी आदमी चाहता नहीं कि हम बिल्कुल बदल जाए शराब पीने वाला बिल्कुल नहीं बदलता खींचा जा सकता है लेकिन सन्यासी बिल्कुल बदल जाता है उसे खींचा नहीं जा चोर बेटा बुरा है लेकिन फिर भी चलाया जा सकता है लेकिन सन्यासी बेटा बेटा ही नहीं रह जाता चोर बेटा कम से कम बेटा तो रहता है इसलिए हम चोर बेटे को बर्दाश्त कर लेंगे सन्यासी बेटे से दिक्कत हो जाएगी चारों तरफ से हमारे भीतर अर्ज तो है जन्म से है जैसे बीज के भीतर छिपा है अंकुर लेकिन अगर बीज को हम पत्थरों पर रख दें तो बीज का अंकुर नहीं निकल पाएगा और हो सकता है बीज पूछे कि मैं अंकुरित कैसे हो जाऊं हम सब ने अपने जीवन के बीच को पत्थरों पर रखा है कि अंकुरित ना हो जाए तो आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि जरा अपने आसपास पहचानना कि आपकी अर्ज को तोड़ने का आपकी प्यास को मिटाने का जो उपक्रम जो बड़ा षडयंत्र चल रहा है चारों तरफ से उससे जरा सजग होना पड़ेगा तो शायद प्यास जब उठे अंगुर फूट उठे चौबीस घंटे सब तरफ से यही चल रहा है अगर एक पति अपनी पत्नी से ये कहे या पत्नी अपने पति से ये कहे कि तुमसे ज्यादा मैं परमात्मा को चाहती हूं तो झगड़ा शुरू हो जाए पति चाहता है कि पत्नी उसी को परमात्मा समझे अब ये पत्थर बन रहा है पति समझाते रहे दुनिया में स्त्रियों को कि हम ही परमात्मा तो हमें ही परमात्मा समझो पति ही परमात्मा क्या पागलपन की बात सब्सिट्यूट बन रहा है पति पत्नी भी चाहती है कि पति ये कहे कि तेरे सिवाय तुझसे ज्यादा किसी को नहीं चाहता अगर कंपटीशन में परमात्मा भी रखा जाए तो भी पत्नी दिक्कत में पड़ जाती है कि ये प्रतियोगिता नहीं चल सकती आप मुझे चाहते हैं या परमात्मा को साफ साफ बता दो परमात्मा भी सौतेली पत्नी मालूम पड़ेगा तो अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करें प्यास को जगाने का उतना सवाल नहीं जितना प्यास को चारों तरफ से दबाया हुआ है वो दबाव को देखें देखेंगे तो कठिनाई नहीं रहेगी उस दबाव को हटाया जाए इस दबाव की कई तरकीबें हैं ये दबाव बहुत टेक्निकल है इसकी बड़ी गहरी व्यवस्था है हर आदमी की मौत निश्चित निश्चित का मतलब ये नहीं कि कोई तारीख निश्चित है निश्चित का मतलब ये कि मौत एक सर्टेनिटी है उससे बचा नहीं जा सकता वो एक निश्चय है हर आदमी की मौत निश्चित है लेकिन हर आदमी उसको आशीर्वाद दिए जा रहा है कि तुम जुग जुग जियो मां आशीर्वाद दे रही तुम जुग जुग जियो बाप कह रहा तुम जुग जुग जियो गुरु भी कह रहा है कि आशीर्वाद जुग जुग जियो कोई जुग जुग नहीं जी सकता खतरनाक और झूठी बात बोली जा रही लेकिन मन में बैठती और मृत्यु की जो सर्टिनिटी है मृत्यु का जो निश्चय है मृत्यु की जो अनिवार्यता है उसको झुठलाती और ऐसा लगता है कि नहीं ठीक जुगजुग जी लेंगे कोई जुगजुग नहीं जिएगा कोई आशीर्वाद कभी पूरा नहीं हुआ होगा भी नहीं लेकिन मौत को झुठलाने का काम आ जाता है और मौत को जितना हम झुठलाते उतना ही अमृत की खोज मुश्किल हो जाती पत्थर पर तो पड़ गया बीच अब अब झुटलाने से काम नहीं जिंदगी इनसिक्योरिटी है जिंदगी बिल्कुल असुरक्षा है यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं है आप यहां हैं घर तक पहुंचेंगे ये पक्का नहीं है मैं यहां हूं दूसरी शब्द भी बोल सकूंगा इसके आगे ये पक्का नहीं है ये बिल्कुल अनिश्चित लेकिन मन कहता है कि सब निश्चित चारों तरफ सब समझाया जाता है कि सब निश्चित है बैंक बैलेंस निश्चित इंश्योरेंस कंपनी कहती है निश्चित सब तरफ निश्चय का धोखा खड़ा किया जा रहा है जबकि सब अनिश्चित है कुछ भी निश्चित नहीं अगर अनिश्चय का पता चल जाए तो बीच पत्थर से हट जाएगा अगर ये पता चल जाए जहां सब अनिश्चित है और जहां निश्चित सिर्फ धोखा है वहां वहां जीवन को जो खोज रहा है वो वही गलती कर रहा है जो मैंने सुना है एक बार एक मुसलमान बादशाह इब्राहिम की छत पर हुई रात सोया था आधी रात नींद खुली तो देखा कि कोई छप्पड़ पे चल रहा है ऊपर तो पूछा चिल्ला के कि कौन हो छप्पड़ पे कौन चल रहा है तो ऊपर से किसी ने हंस के कहा कि सोए रहो परेशान मत हो मेरा ऊंट खो गया है उसे मैं खोज रहा हूं तो इब्राहिम ने कहा पागल कहीं मकानों और महलों के छप्परों पर ऊंट खोए सुने हैं तो जोर की हंसी आई उसने कहा कि तू मुझे पागल कहता है लेकिन जहां तू जिंदगी खोज रहा है वहां कभी किसी को जिंदगी खोजते हुए पाया है तो अगर जहां मृत्यु है वहां आदमी अमृत को खोजता रहे और जहां अनिश्चय है वहां निश्चय को खोजे जहां सब असत्य है वहां सत्य को खोजे अगर इस तरह के लोग पागल नहीं तो मुझे भी पागल कहने का क्या कारण इब्राहिम उठा उसने सिपाही दौड़ाए इस आदमी को पकड़ो ये आदमी कुछ मतलब की बात करता मालूम पड़ता है कई बार मतलब की बात कहनी हो तो लोगों की नींद खराब करनी पड़ती आधी रात लेकिन वो आदमी नहीं पकड़ा जा सका इब्राहिम दूसरे दिन बहुत चिंतित अपने दरबार में बैठा है उसने आदमी भेजे कि सारी रात गानी खोज डालो वो आदमी कौन है जो रात छप्पर को ऊंट खोजता उन सबने कहा कि वो तो आदमी पागल था ही आप क्यों पागल हो रहे हैं इब्राहिम ने कहा यही मैंने भी उससे कहा लेकिन जो जवाब उसने मुझे दिया है उससे मैं पागल हो गया हूं और वो पागल नहीं रहा है उसकी खोज करो बहुत खोज की भी कुछ पता चला नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजे पर बड़ा झगड़ा होने लगा दरबान से एक आदमी कह रहा था कि मुझे इस सराय में ठहर जाने दो वो दरबान कह रहा था ये सराय नहीं है मां से ये राजा का महल है निवासी स्थान वो आदमी कह रहा था कि झूठ मत बोलो मैं जानता हूं कि ये सराय है धर्मशाला है ठहर जाने दो बात इतनी बढ़ गई कि उस दरबान ने कहा कि आप पागल तो नहीं है कि राजा को भीतर सुनाई पड़ा कि फिर किसी आदमी से दरबान कह रहा है कि आप पागल तो नहीं हो राजा बागा बाहर आया उस आदमी को भीतर लाया उस आदमी से पूछा कि क्या बात उस आदमी ने कहा कि मैं इस तरह में ठहरना चाहता हूं आपको कोई ऐतराज है उस राजा ने कहा पागल तो नहीं हो इस तरह नहीं है मेरा महल निवास तो उस आदमी ने कहा कि मैं इसके पहले भी आया था तब कोई दूसरा आदमी इसी सिंहासन पर बैठा था वो कहता था ये मेरा निवास उसके पहले भी आया तब कोई और दूसरे आदमी बैठा हुआ था वो भी कहता था ये मेरा निवास तो उस राजा ने कहा कि वो मेरे पिता और उसके पहले जब तुम आया वो उनके भी पिता थे तो उस फकीर ने कहा कि जब मैं दोबारा आऊंगा तुम मिलोगे ये पक्का है आदमी ने कहा कि मुश्किल बात है तो फिर उसने कहा सराय हैं तुम भी ठहरे हो मुझे भी ठहर जाने दो तो बहुत लोग ठहर चुके मैं भी ठहर जाता वो इब्राहिम उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मिल गया वो आदमी जो रात छप्पर पर ऊट खोज रहा था तुम्हें वो आदमी मालूम पड़ते हो अब तुम ठहरो और मैं जाता हूं उस फकीर ने कहा कहां जाते तो उस राजा ने कहा अब घर खोजने जाता हूं क्योंकि अब तक इस तरह को घर समझा जिसे हम जिंदगी समझ रहे हैं सुरक्षित सिक्योर मौत नहीं है सब ठीक है ये बनाया हुआ जो हमारा इंतजाम ये जो मेक बिलीफ है ये जो हमारी तैयारी ये सिर्फ धोखा है इस धोखे को टूटने में देर नहीं लगती ये धोखा किसी दिन टूटता है लेकिन जब टूट जाता है तब करने का समय नहीं बचता अभी जब तक नहीं टूटा है करने का समय बचा है कुछ किया जा सकता है तो आखिरी बात आपसे कहता हूं प्यास को जगाने के लिए अपनी जिंदगी में जहां जहां जो जो आपको दिखाई पड़ता हो जरा गौर से देखना जैसा दिखाई पड़ता है ठीक उससे उल्टा उससे पाएंगे जहां दिखाई पड़ता है कि सब ठीक है वहां कुछ भी ठीक दिखाई नहीं पड़ेगा और जहां दिखाई पड़ता है पैरों के नीचे चट्टाने हैं वहां खड्डों के सिवाय कुछ भी नहीं और जहां दिखाई पड़ता है जिंदगी बिल्कुल सुरक्षित तो वहां सिर्फ मौत ही सुरक्षित और कुछ भी सुरक्षित नहीं काश हमें जिंदगी की ये असली तस्वीर जो हमारी जिंदगी है दिखाई पड़ जाए तो फिर हम सराय को छोड़ के घर की खोज में नहीं निकलेंगे निकलना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं निकलना ही पड़ेगा वही खोज परमात्मा की खोज बन जाती है क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई घर नहीं बाकी सब सराय जिसमें पहुंच के फिर वापस लौटना ना हो वही घर जिसमें पहुंच के फिर वापस खोना ना हो वही घर जिसमें पहुंच के फिर और कहीं पहुंचने को कोई जगह